परम मंगलमयी सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती राजराजेश्वरी की उपासना के पावन दिनों में हम सबको उनकी ही अनुकंपा से उनमें ही मन वाणी को समर्पित कर करते हुए अपने जीवन को सफल बनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है परम वंदनीय पूज्य महाराज जी के पावन चरण कमलों में वंदन आश्रम में समुपस्थित सभी वंदनीय संत जनों को प्रणाम आप सबके हृदय कमल में विराजमान माँ भगवती राजराजेश्वरी को वंदन उनके नामों को एक दो बार दोहरा करके फिर उनकी पावन चर्चा में हम प्रवेश करें